प्रिय उपासना एक बहुत पुरानी कथा है किसी पहाड़ की दुर्गम चोटियों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव उस गांव का कोई संबंध बृहत्तर मनुष्य जाति से नहीं था उस गांव के लोगों को प्रकाश कैसे पैदा होता है इसकी कोई खबर न थी लेकिन अंधकार दुखपूर्ण है अंधकार भयपूर्ण है अंधकार अप्रीतिकर है इसका उस गांव के लोगों को भी बोध होता था गांव के लोगों ने अंधकार को दूर करने की बहुत चेष्टा की इतनी चेष्टा की कि वे अंधकार को दूर करने के प्रयास में करीब करीब समाप्त ही हो गए वे रात को टोकरियों में भरकर अंधकार को घाटियों में फेंक आते हैं लेकिन पाते की टोकरिया भर के फेंक भी आए हैं फिर भी अंधकार अपनी ही जगह बना रहता उन्होंने बहुत उपाय किए वो पूरा गांव पागल हो गया अंधकार को दूर करने के उपायों में अंधकार को धक्के देने की कोशिश करते तलवारों लाठियों से अंधकार को धमकाते लेकिन अंधकार न उनकी सुनता न उनसे हटता न उनसे मिटता और अंधकार को मिटाने की कोशिश में और बार बार हार जाने के कारण वे इतने दिनहीन इतने दुखी इतने पीड़ित हो गए कि उन्हें जीवन में कोई रस जीवन में कोई आनंद फिर दिखाई नहीं पड़ता था एक ही बात दिखाई पड़ती थी कि शत्रु की तरह अंधकार खड़ा है और उस पर वे विजय पाने में असफल है आखिर वो गांव अंधकार को दूर करने की कोशिश में पागल हो गया उस गांव से एक यात्री भूला भटका हुआ पहाड़ों पर किसी दूसरे गांव का पहुंचा उस गांव से निकला उसने उस गांव की हालत देखी वो हैरान हो गया उसे विश्वास न आया कि अंधकार को दूर करना भी इतनी कठिन बात है क्या अंधकार से भी हारने की कोई वजह कोई कारण है क्या उसने उस गांव के लोगों को कहा कि पागल हो तुम अंधकार बहुत शक्तिशाली नहीं है तुम इसलिए नहीं हारते हो कि अंधकार शक्तिशाली है और तुम कमजोर हो तुम हारते इसलिए हो कि तुम अंधकार को सीधा हटाने का उपाय करते हो अंधकार सीधा नहीं हटाया जा सकता है इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि अंधकार की कोई सत्ता कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता अंधकार तो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम है वो तो केवल प्रकाश की एब्सेंस है उसका अपना कोई होना नहीं है कि तुम उसे हटा सको अंधकार को मत हटाओ प्रकाश को जलाओ और प्रकाश जल आता है तो अंधकार कहीं भी नहीं पाया जाता उसने दो पत्थरों से चोट की और प्रकाश को जलाकर उन्हें बताया वे हैरान हो गए वे अपनी आंखों पर विश्वास न कर सके कि जो बात इतनी कठिन थी वो इतनी सरल निकलेगी प्रकाश आया और अंधकार नहीं था पता नहीं ये कहानी कहाँ तक सच है और सच हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन पूरी मनुष्य जाति अंधकार को दूर करने में लगी हुई है और अंधकार को दूर करने की इस चेष्टा में अंधकार तो दूर नहीं होता प्रकाश भी उपलब्ध नहीं होता लेकिन मनुष्य जरूर दीनहीन फ्रस्ट्रेटेड मनुष्य जरूर चिंता मनुष्य जरूर तनाव से भर जाता है और इस सीमा तक ये बात पहुंच जाती है कि मनुष्य विक्षिप्त हो उठता है आज हम करीब करीब रुग्ण और विक्षिप्त हैं और इस सारी विक्षिप्तता के पीछे इस पागलपन के पीछे जिसमें मनुष्य जाति ग्रसित है मनुष्य के उस चित्त की रुग्णता के पीछे एक ही एक ही बात काम कर रही है वही जो उस गांव में काम कर रही थी हम अंधकार को दूर करने के प्रयास में संलग्न प्रकाश को जलाने के प्रयास में नहीं अंधकार को दूर हटाने के प्रयास में हर मनुष्य अस्वस्थ बीमार और रुग्ण है चित्त के तल पर क्योंकि वो अंधकार को दूर करने की कोशिश में लगा है अंधकार दूर नहीं किया जा सकता इसका ये अर्थ नहीं है कि अंधकार दूर नहीं हो सकता अंधकार निश्चित ही दूर हो जाता है लेकिन प्रकाश के जलने से सीधे अंधकार के साथ कुछ भी करने का उपाय नहीं है वो है ही नहीं उसके साथ करने का उपाय होगा कैसे हम सब एक निगेटिव एक नकारात्मक जीवन विधि से पीड़ित है अंधकार को दूर करने की विधि से पीड़ित है स्वभावता हम अपने भीतर हिंसा दूर करना चाहते हैं घृणा दूर करना चाहते हैं क्रोध दूर करना चाहते हैं द्वेष लोभ मोह दूर करना चाहते हैं ईर्षा दूर करना चाहते हैं ये सब अंधकार है इनको दूर नहीं किया जा सकता सीधा इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं क्रोध घृणा द्वेष या ईर्षा किसी के अभाव है किसी प्रकाश की अनुपस्थिति है स्वयं किसी चीज की मौजूदगी नहीं है घृणा प्रेम की अनुपस्थिति है जैसे अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति घृणा को दूर नहीं किया जा सकता सीधा न द्वेष को न ईर्षा को न हिंसा को और जब हम इनको सीधा दूर करने में लग जाते हैं तो अगर हम पागल न हो जाएं तो और क्या होगा क्योंकि वे दूर नहीं होते हैं उनको दूर करने की सारी कोशिश व्यर्थ सिद्ध हो जाती है और जब वे दूर नहीं होते तो दो ही उपाय रह जाते हैं या तो व्यक्ति पागल हो जाता है या पाखंडी हो जाता जब वे दूर नहीं होते तो उन्हें छिपा लेता है ऊपर से जाहिर करने लगता है वे दूर हो गए और भीतर भीतर वे उबलते रहते हैं भीतर वे मौजूद रहते हैं भीतर वे चित्त की परतों पर सरकते रहते हैं ऐसा दोहरा व्यक्तित्व पैदा हो जाता है एक जो ऊपर से दिखाई पड़ने लगता है और एक एक जो भीतर होता है इस द्वैत में इतना तनाव है इतनी अशांति है इतनी कॉन्फ्लिक्ट है होगी ही क्योंकि जब एक आदमी दो हिस्सों में टूट जाएगा एक जैसा वो है और एक जैसा वो लोगों को दिखलाता है कि मैं हूं मैंने सुना है लंदन में एक बहुत अद्भुत फोटोग्राफर था उसने अपने स्टूडियो के सामने एक तख्ती लगा रखी थी उस तख्ती पर उसने लिख रखा था अपनी फोटो उतारने के दाम की सूची लिख रखी थी उस पर उसने लिख रखा था जैसे आप हैं अगर वैसा ही फोटो उतरवाना है तो पांच रुपया जैसे आप दिखाई पड़ते हैं अगर वैसी फोटो उतरवानी है तो दस रुपया जैसा आप चाहते हैं कि दिखाई पड़े अगर वैसी फोटो उतरवानी है तो पंद्रह रुपया एक गांव का ग्रामीण पहुंचा वो भी चित्र उतरवाना चाहता था वो हैरान हुआ कि चित्र भी क्या तीन प्रकार के हो सकते हैं और उसने उस फोटोग्राफर से पूछा कि क्या पांच रुपए को छोड़कर कोई दस और पंद्रह का फोटो भी उतरवाने आता है उस फोटोग्राफर ने कहा तुम पहले आदमी हो जो पांच रुपए वाला फोटो उतरवाने का विचार कर रहे हो अब तक तो यहाँ कोई पांच रुपए वाला फोटो उतरवाने नहीं आया हम्म। जिनके पास पैसे होते हैं वो पंद्रह रुपए वाले उतरवाते हैं मजबूरी पैसे कम हो तो दस रुपए वाला उतरवाते हैं लेकिन मन उनका पंद्रह वाला ही रहता है कि उतरे तो अच्छा पांच रुपए वाला तो कोई मिलता नहीं जो जैसा है वैसा चित्र कोई भी उतरवाना नहीं चाहता है हम अपने व्यक्तित्व को ऐसी परत परत ढके हुए हैं इससे एक पाखंड पैदा हुआ है इस पाखंड से सारा मनुष्य चित्त रुग्ण हो गया और अगर कोई बहुत जिद्दी हो और अगर कोई पाखंडी न होना चाहता हो और आग्रह करता रहे अंधकार को घृणा को क्रोध को हटाने का तो उसके लिए विक्षिप्त हो जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं वो पागल हो जाए सभ्यता के बढ़ने के साथ साथ पागलों की संख्या अकारण ही नहीं बढ़ती गई जितना सभ्य मुल्क उतनी ही पागलों की अधिक संख्या अमेरिका शायद सभ्यता में अग्रणी है इसलिए सर्वाधिक पागल वहां होते हैं और एक न एक दिन ये बात जब समझ में आ जाएगी कि सभ्यता और पागलों का कोई अनिवार्य संबंध है तो आप पक्का समझ लें जिस मुल्क को पूरा सभ्य होना हो उसे पूरा पागल हो जाना पड़े या अगर कोई कौम बिल्कुल पागल हो जाए तो समझ लेना कि उस सभ्यता के शिखर पर पहुंच गई ये जो अगर हम चित्त की बदलाहट की कोई गलत कीमिया कोई गलत केमिस्ट्री पकड़ लेंगे तो स्वभावता चित्त विकृत हो जाएगा आज की सुबह मुझे स्वस्थ चित्त के संबंध में ही थोड़ी बात करनी कल मैंने युवा ताजा नया चित्त होना चाहिए इस संबंध में आपसे कुछ कहा था दूसरे दिन की सुबह आज में स्वस्थ चित्त होना चाहिए इस संबंध में कुछ कहना चाहते क्योंकि स्वस्थ चित्त न हो तो सत्य की कोई अनुभूति संभव नहीं है लेकिन स्वस्थ चित्त होना चाहिए इसे समझने के लिए ये समझ लेना जरूरी है कि ये चित्त अस्वस्थ कैसे हो गया है ये अनहेल्दी माइंड पैदा कैसे हो गया ये आदमी का चित्त इतना ज्वरग्रस्त इतना विकृत इतना कुरूप कैसे हो गया इतना अगली कैसे हो गया क्या बीमारी इस चित्त को लग गई है इस चित्त को अंधकार को दूर करने की बीमारी लग गई है एक बीमारी तो है अंधकार को दूर करने की और जब ये अंधकार दूर नहीं होता जिसे हम बुरा कहते हैं जिसे हम पाप कहते हैं जिसे हम अनिति कहते हैं जब वो दूर नहीं होती तो फिर क्या करे आदमी फिर दो ही रास्ते तो पागल हो जाए या पाखंडी हो जाए फिर क्या करे तीसरा रास्ता भी है एक और वो ये वो किन्हीं आदर्शों की कल्पना में जो है उसे भूल जाए एक एस्केप ले ले एक पलायन ले ले हिंसक आदमी है वो अहिंसा का आदर्श बना ले और अहिंसा की योजना और कल्पना में लीन हो जाए और हिंसा को भूल जाए क्रोधी आदमी है वो क्षमा का आदर्श बना ले क्षमा की योजना में लग जाए कि कल मैं क्षमाशील हो जाऊंगा और कल की इस योजना में आज जो क्रोध है उसे भूल जाए ये तीसरा विकल्प भी मनुष्य के चित्त को अस्वस्थ करता है क्योंकि तब उसके आज और कल में एक तनाव एक टेंशन पैदा हो जाता है वो कल की कल्पना में जीने लगता है और असलियत में जीता है आज जो आदमी कल अहिंसक होने का विचार कर रहा है कि मैं कोशिश करके कल अहिंसक हो जाऊंगा प्रेमपूर्ण हो जाऊंगा क्षमाशील हो जाऊंगा वो आज क्रोधी है हिंसक है और हिंसक आदमी अहिंसक बनने की कोशिश भी करेगा उस कोशिश में भी हिंसा मौजूद रहेगी इसलिए तथा कथित अहिंसक साधु सन्यासी साधक इतनी गहरी हिंसा में संलग्न होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं ये जरूर बात सच है कि वे हिंसा दूसरे पर न करके अपने पर ही करते हैं हिंसा की धारा वे अपने पर ही लौटा लेते हैं वे खुद के ही विनाश में खुद के ही डिस्ट्रक्शन में संलग्न हो जाते हैं और किस किस भांति वे अपने को पीड़ा देने लगते हैं और उन्हें ख्याल भी नहीं होता कि ये सब हिंसा है लेकिन वे अहिंसा की साधना के लिए ये सब कर रहे हैं हिंसक आदमी अहिंसक हो कैसे सकता है वो जो कुछ भी करेगा उसमें हिंसा होगी अहिंसा की साधना भी करेगा तो हिंसा होगी उसका माइंड तो वायलेंट है वो तो हिंसक है इसलिए जो भी वो मन करेगा उसमें हिंसा होगी क्रोधी आदमी प्रेम की तैयारी करेगा तो उसमें भी क्रोध होगा बातें प्रेम की होंगी पीछे क्रोध होगा मैंने सुना है एक क्रोधी बाप का बेटा घर छोड़कर भाग गया था उसने अखबार में विज्ञापन निकलवाया कि प्यारे बेटे तुम वापस आ जाओ तुम्हारी माँ तुम्हारे प्रेम में बहुत दुखी है और दिन रात रो रही है मैं खुद भी तुम्हारे प्रेम में पागल हुआ जा रहा हूँ शीघ्र वापस लौट आओ और अंत की पंक्ति थी कि अगर वापस न लौटे तो चमड़ी उधेड़ दूंगा वो सारी प्रेम की बातचीत और शायद क्रोध में उसे ख्याल ही न रहा कि अगर वापस न लौटे तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तो तुम चमड़ी उधोड़ोगे कहा जब वो वापस ही नहीं लौटे लेकिन लड़का फिर वापस नहीं लौटा क्योंकि लड़के ने समझ लिया होगा कि न लौटने पर तो चमड़ी नहीं उधेड़ी जा सकती लेकिन लौटने पर उसका उधेड़ा जाना निश्चित है कि बेचारे का प्रेम कितने दूर तक जाएगा ऊपर ऊपर होगा पीछे पीछे वो मौजूद है आदमी जो वो है हमारी सारी इन आदर्शों की बातचीत में एक प्रेम की अहिंसा की दया की भीतर हमारी हिंसा हमारा क्रोध हमारी क्रूरता सब मौजूद होती है मैंने सुना है एक सुबह एक पति अपना अखबार पढ़ रहा था उसकी पत्नी ने उसे अखबार पढ़ते देखकर चिंता अनुभव की होगी क्योंकि पत्नियां ये कभी पसंद नहीं करती कि उनका पति उनके अतिरिक्त और किसी चीज में उत्सुक हो अखबार में भी उत्सुक हो तो ईर्षा पैदा होती उस तो पत्नी ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि अब तुम मुझे प्रेम नहीं करते मैं आधे घंटे से बैठी हूँ लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा नहीं तुम अपना अखबार ही पढ़े जाते हो उसके पति ने कहा गलती में हो तुम अब तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्रेम करता हूँ अब तो तुम्हारे बिना मैं एक क्षण नहीं जी सकता तुम ही मेरी श्वास तुम ही मेरे प्राण हो और अखीर में कहा कि अब बकवास बंद करो अब मुझे अखबार पढ़ने दो अब बहुत हो गया अब बकवास बंद करो अब मुझे अखबार पढ़ने दो एक ऊपर एक आवरण जीवन में हम प्रेम का ओढ़े बैठे रहते हैं और पीछे पीछे वो हमारी सारी क्रूरता और सारी हिंसा मौजूद होती है अगर आदमी को जरा खरोच दो उसका सारा झूठा व्यक्तित्व खत्म और उसके भीतर से असली आदमी बाहर जरा किसी के पैर पर चोट लगा दो जरा किसी को धक्का दे दो वो गई बात वो जो ऊपर से आदमी था विलीन हो गया दूसरा आदमी मौजूद हो गया इस आदमी का पता भी नहीं था कि ये इतनी ही दूरी पर पास ही मौजूद है हम सबके भीतर वो आदमी मौजूद है और उस आदमी की मौजूदगी और ऊपर से ये आवरण झूठा विरोधी और हमने इस विरोध को भीतर हिंसा मालूम पड़ती है तो जो अपोजिट है जो विरोधी है अहिंसा उसका वात उसका वस्त्र ओढ़ लिया भीतर क्रोध है तो हमने ऊपर क्षमा का वस्त्र ओढ़ लिया भीतर घृणा है तो हमने ऊपर प्रेम का वस्त्र ओढ़ लिया आदमी का चित्त विकृत है इस अपोजिट के कारण ये जो विरोधी ओढ़े हुए हैं इसके कारण मनुष्य कभी स्वस्थ नहीं हो सकता क्योंकि इस विरोधी के ओढ़ने से वो जो भीतर है वो नष्ट नहीं होगा बल्कि वो नष्ट हो सकता था अगर ये विरोधी न ओढ़ा जाता क्योंकि उसके साथ जीना बहुत कठिन था उसके साथ एक क्षण जीना कठिन था इस विरोधी को ओढ़ लेने के कारण उसके साथ जीना आसान हो गया अगर किसी भिकमंगे को ये ख्याल हो जाए कि मैं सम्राट हूं और ऐसा अक्सर भिकमंगों को ख्याल हो जाता है तो फिर भिकमंगेपन के मिटने की कोई संभावना न रही तो ख्याल है कि मैं सम्राट वह आदमी भिकमंगा है भिखारी है लेकिन ख्याल है कि मैं सम्राट हूं तो अब उसके पन के मिटने का क्या मार्ग रहा लेकिन इस ख्याल से वो सम्राट हो नहीं जाता है रहता तो भिकमंगा ही एक सपना ओढ़ लेता है सम्राट के होने का और इस सपने लेने के कारण भिकमंगी में रहने की सुविधा मिल जाती अगर ये ख्याल ना हो कि मैं सम्राट हूं और वो जाने कि मैं भिखारी हूं तो भिखारी होने के साथ जीना कठिन है उसे बदलना होगा उसे भिखारीपन से छुटकारा और मुक्ति पानी होगी अगर एक बीमार आदमी को ख्याल हो जाए कि मैं स्वस्थ हूं तो फिर फिर उसकी बीमारी के उपचार का क्या क्या संभावना रही वो अपनी बीमारी को मिटाने के लिए क्या करेगा वो कुछ भी नहीं करेगा लेकिन इस ख्याल से कि मैं स्वस्थ हूँ वो स्वस्थ हो नहीं जाता है रहता तो बीमार है लेकिन इस ख्याल के कारण बीमारी को भीतर सरकने का जीने का मौका मिल जाता है बीमारी की मिटने की सारी संभावना समाप्त हो जाती है बीमारी को मिटाने के लिए बीमारी को पूरी तरह जानना जरूरी है बीमारी से मुक्त होने के लिए बीमारी को भुलाना सबसे घातक बात है और हम सब अपनी बीमारियों को बुलाकर बैठ जाते हैं हम सब तरकीबें निकाल लेते हैं कि बीमारी भूल जाए और फिर बीमारी जीती है भीतर सरकती है अपरिचित और अनजान हो जाने के कारण अनकॉन्सियस हो जाने के कारण अचेतन हो जाने के कारण हमारा उससे ऊपर से कोई संबंध नहीं रह जाता लेकिन प्राणों को भीतर भीतर वो रोंद डालती है मनुष्य इसलिए अस्वस्थ है मनुष्य का चित्त इसलिए अस्वस्थ इस पूरी बात को अगर हम संक्षिप्त में समझें तो इसका ये अर्थ हुआ कि मनुष्य तथ्यों को छिपाने के लिए आदर्शों का उपयोग करता है वो जो फैक्ट्स हैं उनको छिपाने के लिए फिक्शन खड़े करता है जो तथ्य हैं जो सच्चाइयां हैं उन्हें छिपाने के लिए झूठी कल्पनाएं और आदर्श और आइडियल्स खड़े करता है और फिर इन आदर्शों के कारण तथ्यों को भूल जाता है लेकिन तथ्य है भूलने से मिटते नहीं है अगर कोई चीजें भूलने से मिटती होती तब तो बहुत आसान बात थी तब तो एक आदमी शराब पी लेता और दुख मिट जाता लेकिन शराब पीने से दुख मिटता नहीं केवल भूलता है आदर्शों की शराब पी लेने से भी जीवन के तथ्य बदलते नहीं मौजूद रहते हैं ये हमारा ही देश है ये अहिंसा की शराब हजारों साल से पी रहा है लेकिन एक भी आदमी अहिंसक नहीं हो पाया हिंसा मौजूद है हमारे चित्त में सब तरफ हिंसा मौजूद है लेकिन हम अहिंसा की बातें करके अपनी हिंसा को छिपाए रखते हैं जरा सी चोट और हमारे हिंसा के फवारे निकलने शुरू हो जाते हैं हमारे कवि हिंसा के गीत गाने लगते हैं हमारे नेता हिंसा की बात करने लगते हैं हमारे साधु सन्यासी भी कहने लगते हैं अहिंसा के रक्षा के लिए अब हिंसा की बहुत जरूरत है उस सारी अहिंसा एक क्षण में विलीन हो जाती हम हजारों साल से प्रेम की बातें करते रहे लेकिन हमारे जीवन में कहा है प्रेम हम दया की सेवा की बातें करते रहे कहा है दया और कहा है सेवा और हमारी सारी सेवा और हमारी सारी दया भी हमारे गहरे से गहरे स्वार्थों की अनुचर हो गई है एक आदमी को मोक्ष जाना है इसलिए वो दया करता है दान करता है ये दया और दान है या कि सौदा है एक आदमी को आत्मा को पाना है इसलिए वो सेवा करता है गरीबों की ये सेवा है या अपने स्वार्थ के लिए गरीब को भी उपकरण बनाना है एक चर्च में एक पादरी ने रविवार के दिन आने वाले बच्चों को समझाया कि जिन्हें भी स्वर्ग जाना है उन्हें सेवा जरूर करनी चाहिए उन बच्चों ने पूछा हम कैसे सेवा करें क्योंकि स्वर्ग तो हम सब जाना चाहते हैं पादरी ने कहा कई प्रकार हैं सेवा के डूबता हुआ कोई हो तो उसे बचाना चाहिए किसी घर में आग लग गई हो तो जाके घर का सामान या व्यक्तियों को बाहर निकालना चाहिए या बहुत सरल सी बात कोई भी किसी तरह का किसी को सहायता पहुंचानी हो तो पहुंचानी चाहिए अगले रविवार को जब वे बच्चे फिर आए तो उस पादरी ने पूछा तुमने कोई सेवा का कार्य किया तीन बच्चों ने हाथ उठाए एक बच्चे ने पूछा उसने क्या किया उसने कहा मैंने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई दूसरे से पूछा उसने धन्यवाद दिया कि खुश हूं मैं तुमने बहुत अच्छा काम किया दूसरे बच्चे से पूछा तुमने क्या किया उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई वो थोड़ा हैरान हुआ लेकिन फिर उसको भी धन्यवाद दिया और तीसरे से पूछा तुमने क्या किया उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई वो बहुत हैरान हुआ उसने कहा क्या तीन बुढ़ी औरत तुम्हें पार करवाने को मिल गई उन तीनों ने कहा तीन कहा एक ही बुढ़ी औरत थी तो वो बहुत हैरान हुआ कि तुमको तीन को उसे पार करवाना पड़ा उन तीनों ने कहा वो पार होने नहीं चाहती थी बड़ी मुश्किल से पार करवाना वो तो बिल्कुल भागती थी पकड़ के बिल्कुल जबरदस्ती हमने पार करवाई क्योंकि स्वर्ग जाना तो जरूरी है और सेवा करनी ही पड़ेगी उस पादरी ने कहा आप कृपा करके ऐसी सेवा मत करना अच्छा किया कि तुमने औरत को ही पार करवाया कहीं मकान में आग लगवा के लोगों को नहीं बचाया या किसी को नदी में डुबा के प्राण नहीं बचाए यही बहुत है अब तुम और सेवा मत करना सेवकों ने दुनिया में ऐसे बहुत से काम किए लेकिन उन्हें सेवा करनी जरूरी है क्योंकि स्वर्ग जाना जरूरी है ये सारी सेवा ये सारे दान ये सारी दया ये सारी अहिंसा की बकवास हमारे भीतर जो असली आदमी है उसको छिपा लेती है और वो जो असली आदमी है वही है जो कुछ भी होना है उसके द्वारा होना है जो भी जीवन में क्रांति या न क्रांति जीवन में कोई परिवर्तन या ना परिवर्तन जो कुछ भी होना है उस असली आदमी से होना उस सेक्सुअल आदमी से जो मैं हूँ जो आप हैं ये आदर्शों से कुछ भी होना नहीं लेकिन आदर्शों में हम अपने को छिपा लेते हैं एक बुरा आदमी अच्छे बनने की कोशिश में ये भूल जाता है कि मैं बुरा आदमी यही वो भूलना चाहता है यही वो भूलना चाहता है कि मैं बुरा आदमी हूँ इसलिए सब बुरे आदमी अच्छे आदर्शों को पकड़ लेते हैं अच्छे आदर्श की जो बात करता हो पहचान लेना उसके भीतर बुरा आदमी मौजूद है बुरा आदमी मौजूद ना हो तो अच्छे आदर्श की बात हो ही नहीं सकती क्योंकि तब आदमी अच्छा होगा अच्छे आदर्श का सवाल कहा है अच्छा आदर्श भीतर छिपे हुए बुरे आदमी की तरकीब है और बहुत गहरी तरकीब है जिससे वो अपने को बचा लेता है अच्छे बनने की कोशिश में बुरा आदमी भूल जाता है और बुरा आदमी जब तक मौजूद है भीतर तब तक कोई अच्छा आदमी बन कैसे सकता है वो लाख उपाय करे वो जो भी करेगा उसमें बुरा आदमी भीतर से लौट के फिर खड़ा हो जाएगा रोज हम देखते हैं लेकिन शायद देखने की क्षमता हमने खो दी बुरा आदमी भीतर मौजूद है वो हिंसा और घृणा से भरा हुआ चित्त तो फिर आप कुछ भी करें आप जो भी करेंगे चाहे कितना ही पवित्र काम करें आपके पवित्रतम काम के पीछे भी चूंकि बुरा आदमी मौजूद है आपका पवित्रम काम भी धोखा होगा उसके पीछे भी असलियत कुछ और ही होगी लेकिन हो सकता है ऊपर से वो दिखाई पड़नी बंद हो जाए शायद लोगों को दिखाई न पड़े लेकिन आपको भली भांति दिखाई पड़ सकती है और आपको दिखाई पड़ जाए तो आप स्वस्थ चित्त की दशा में स्वच्छ चित्त की मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं पहली बात है स्वस्थ स्वस्थ चित्त की दिशा में पहला कदम पहला सूत्र इस सत्य को देखना कि तथ्य में मैं क्या हूं आदर्शों में नहीं एक्चुअलिटी क्या है मेरी आइडियोलॉजी क्या है ये नहीं आप क्या मानते हैं ये नहीं आप क्या हैं सच्चाई क्या है आपकी अगर हम इसको जानने के लिए राजी हो जाएं और इसको हम जानने को तभी राजी हो सकते हैं जब ये व्यर्थ ख्याल हमारा छूट जाए कि आदर्शों की कल्पना और आदर्शों की दौड़ में हम बदल सकते हैं परिवर्तित हो सकते हैं कभी कोई आदर्शों के द्वारा परिवर्तित नहीं हुआ है ऊपर से दिखाई भी पड़े कि आदमी बदल गया भीतर वही आदमी मौजूद रहेगा एक गांव में एक बहुत क्रोधी आदमी था इतना क्रोधी था कि उसने अपनी पत्नी को कुएं में फेंक दिया उसकी पत्नी मर गई पीछे उसे पश्चाताप हुआ होगा सभी क्रोधी लोग पीछे पश्चाताप जरूर कर लेते हैं उस भांति उनका जो अपराध भाव है समाप्त हो जाता है वे फिर से क्रोध करने के लिए तत्पर और तैयार हो जाते हैं पश्चाताप तरकीब है किए गए बुरे से साफ कर लेने की स्वयं को उसने पश्चाताप किया उसने मित्रों से कहा कि मैं बहुत दुखी हुआ हूँ अब इस क्रोध से मुझे किसी न किसी रूप में छुटकारा पाना है हद हो गई ये तो सीमा के बाहर चला गया जिस पत्नी को मैं प्रेम करता था उसी की मैंने हत्या कर दी ये वाक्य कितना ठीक लगता है कि जिस पत्नी का मैं प्रेम करता था उसी की मैंने हत्या कर दी लेकिन ये वाक्य क्या ठीक हो सकता है क्योंकि जिसको हम प्रेम करते हैं उसकी हत्या कर सकते हैं लेकिन हम रोज ये कहते हैं कि जिस बच्चे को मैं प्रेम करता था उसको मैंने चांटा मार दिया जिस मित्र को मैं प्रेम करता था उससे मैंने बुरे शब्द बोल दिए जिस पत्नी को मैं प्रेम करता था उससे मेरा झगड़ा हो गया झगड़ा सच है चांटा मारना सच है हत्या करना सच है प्रेम का ख्याल झूठा है लेकिन उसके मित्रों ने कहा कि तुम्हें पश्चाताप हो रहा है ये बड़ी अच्छी बात है गांव में एक मुनि आए हुए हैं तुम वहां चलो शायद उनसे तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए मुनि के पास उस क्रोधी व्यक्ति को ले गए और मुनि जो हमेशा से रास्ता बताते रहे पेटेंट वो उन्होंने उसे बता दी कि तुम सन्यासी हो जाओ बिना सन्यासी हुए क्रोध इत्यादि से छुटकारा नहीं हो सकता संसार में रहोगे तो तो क्रोध और लोभ और मोह में फंसे ही रहोगे ये तो संसार में स्वाभाविक है सन्यासी हुए बिना क्रोध के बाहर तुम नहीं हो सकते हो वो आदमी तो दुख में था ही उसने अपने वस्त्र फेंक दिए वो नग्न खड़ा हो गया उसने कहा कि मैं सन्यासी हो गया वो मुनि भी नग्न थे मुनि बहुत हैरान हुए और बहुत उन्होंने धन्यवाद किया उस व्यक्ति का कि ऐसा मैंने व्यक्ति नहीं देखा इतना संकल्पवान तत्क्षण इतनी शीघ्रता से परिवर्तित हो जाने वाला एक तो वो बाल्या भील की कथा थी एक दूसरी तुम्हारी है उन्होंने कहा लेकिन मुनि धोखे में आ गए और पूरे गांव ने भी प्रशंसा की लेकिन उनको पता नहीं था ये क्रोधी आदमी का सहज लक्षण था क्रोधी आदमी शीघ्रता से कुछ भी कर सकता है वो उसके एंगर का ही वो उसके क्रोधी होने का ही सबूत था संकल्प वगैरह का सबूत नहीं था और न ही उसके दृढ़ शक्ति वाले और विल पावर होने का सबूत था वो सिर्फ उसके क्रोधी होने का सबूत था जिस शीघ्रता से उसने पत्नी को कुएं में धक्का दिया था उतनी शीघ्रता से खुद को सन्यास में धक्का दे दिया ये दोनों एक ही चित्त के लक्षण थे लेकिन गांव धोखे में आ गया वो मुनि भी धोखे में आ गए उन्होंने कई लोगों को सन्यास की शिक्षा दी थी लेकिन अब तक वो लोग कहते थे कि हाँ कभी सन्यास लेंगे जरूर लेकिन इस आदमी ने तत्म कपड़े फेंक दिए गुरु के मन में भी इस शिष्य का बड़ा आदर हो गया और फिर उस शिष्य ने जो तपश्चर्या की उसका तो पूरे देश में कोई मुकाबला न रहा उसने जैसे कष्टपूर्ण उपवास किए वो एक एक पैरों पर घंटों खड़ा रहा जैसे जैसे कठिन उसने शीर्षासन किए जितने उपद्रव हो सकते थे सब उसने अपने साथ किए उसके तब की सब जगह प्रशंसा और हवा फैल गई दूर दूर से लोग उसके दर्शन को आने लगे कि वो महातपस्वी उसकी तप की कोई कोई प्रतियोगी न रहा लोग फिर भी भूल में पड़ गए उन्हें पता नहीं कि वही क्रोधी आदमी है और ये क्रोध का ही रूपांतरण है ये क्रोध का ही रूप है कि वो आदमी आज धूप में खड़ा हुआ है आज रेत में लेटा हुआ है कल कांटों पर सोया हुआ है महीनों भूखा है सूख के हड्डी हो गया है ये क्रोध का ही रूप है ये किसी को ख्याल ना आया लोग कहने लगे महा तपस्वी ऐसा तपस्वी नहीं देखा गया था और जितनी उसको प्रशंसा मिलने लगी उतना अहंकार उसका मजबूत होने लगा उतना ही वो और तपस्या करने लगा फिर तो उसकी ख्याति बहुत फैली और जब किसी तपस्वी की ख्याति बहुत फैल जाए तो वो राजधानी की तरफ यात्रा करता है उसने भी यात्रा की तो तपस्वी राजधानी की तरफ चला सभी तपस्वी अंततः राजधानी पहुंच जाते हैं चाहे तप का कोई रूप हो धार्मिक की राजनीतिक की समाज सेवा का लेकिन तपस्वी अंत में राजधानी जरूर पहुंचता है तो वो भी राजधानी की तरफ चला क्योंकि अब छोटे मोटे गांव काम नहीं कर सकते थे अब इस तपस्वी के लिए महा तपस्वी के लिए महाराजधानी चाहिए थी वहां राजधानी में उसके बचपन का एक मित्र उसके साथ पढ़ा हुआ मित्र रहता था उसने सुनी प्रशंसा अपने इस मित्र की वो उसके दर्शन को गया मन में उसके संदेह जरूर था कि वैसा क्रोधी व्यक्ति कहीं ये सब क्रोध का ही रूपांतरण न हो ये जो इतनी इतनी तीव्र तपस्या चल रही है ये कहीं क्रोध का ही रूप न हो ये कहीं क्रोध खुद पर ही न लौट आया हो ये कहीं क्रोध धार्मिक न बन गया हो क्रोध धार्मिक बन गया था उसके मन में शक तो था वो पहुंचा सोचा था कि शायद अगर मित्र सचमुच में ही साधु हो गया होगा तो कम से कम मुझे पहचान लेगा बचपन में वर्षों वे साथ रहे थे लेकिन जो लोग भी अहंकार की सीढ़ियां चढ़ जाते वे फिर किसी को भी पहचानते नहीं सभी उनको पहचाने ये तो वे चाहते हैं लेकिन किसी को उन्हें न पहचानना पड़े ऐसा वे कभी नहीं चाहते क्योंकि जो किसी को पहचानता है वो छोटा हो जाता है और जो सबसे पहचाना जाता है सब जिसे रिकॉग्नाइज करते हैं वो बड़ा हो जाता है देख तो लिया मित्र को उसने लेकिन पहचाना नहीं कौन पद पर पहुंचे लोग मित्रों को कब पहचानते हैं मित्र पास जाके बैठ गया चरणों में शक तो मित्र को हुआ कि मुझे पहचान तो उन्होंने लिया है क्योंकि वे दृश्य दृश्य आंख से देखकर इधर उधर देखने लगते थे क्योंकि न पहचाना होता तो बार बार देखने की उस तरफ जरूरत भी न थी और देखने से बच भी रहे थे उसकी भी कोई जरूरत न थी उस मित्र ने पूछा कि क्या महाराज मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम महाराज ने कहा मेरा नाम अखबार नहीं पढ़ते हो रेडियो नहीं सुनते हो मेरा नाम कौन है जो नहीं जानता लेकिन फिर भी तुम पूछते हो मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ तो कहने से ही मित्र को ख्याल आ गया कि शांति कितनी उपलब्ध हुई होगी लेकिन दो चार मिनट शांतिनाथ आत्मा परमात्मा की बातें करते रहे फिर दो चार मिनट के बाद उस मित्र ने पूछा कि मुनि जी क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है मुनि जी तो हैरान हो गए हद हो गई अभी इसने पूछा बताया कहा कि सुनते हो या कि बहरे हो कहा मैंने मुनि शांतिनाथ मित्र का संदेह मजबूत होने लगा शांति खो गई थी दो चार मिनट आत्मा परमात्मा की फिर बात चलती रही मित्र ने फिर पूछा क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम उन्होंने डंडा उठा लिया उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा नाम उसके मित्र ने कहा मैं पहचान गया शांतिनाथ जी आप मेरे पुराने ही मित्र हैं कोई फर्क कहीं भी नहीं हुआ है स्वयं को सबको धोखा देने में समर्थ है लेकिन धोखे से चित्त रुग्ण होता चला जाता है अस्वस्थ होता चला जाता है हम सब भी ऐसे धोखे रोज दे रहे हमारी मुस्कुराहटें झूठी हमारा प्रेम झूठा हमारी दया झूठी हमारी अहिंसा झूठी और भीतर हमारी जो सच्चाई है वो बिल्कुल और बाहर से हम मुनि शांतिनाथ हैं भीतर हम कौन हैं वो हमें खोजना है और जानना है वो हमें पहचानना है कि भीतर हम कौन हैं ये जो बाहर का सारा का सारा हमने एक फिक्शन एक कल्पना एक सपना खड़ा कर रखा है एक आदर्श अपने ऊपर ओढ़ रखा है यही है जो हमारे जीवन में क्रांति को ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं आने देता है इसके कारण हम तथ्यों को देख ही नहीं पाते तो फिर तथ्यों को बदलने का सवाल कहाँ उठता है और एक और बहुत मजे की बात है कि तथ्यों को देखना ही उनकी बदलाहट हो जाती किसी तथ्य को पूरी तरह देख लेना ही उसकी बदलाहट हो जाती है लेकिन तथ्य की तीव्रता से हम दर्शन नहीं कर पाते तो बदलाव नहीं हो पाती एक वैज्ञानिक एक प्रयोग करता था उसने दो बाल्टियों में पानी भरा और दो मेंढक पकड़ के लाया एक बाल्टी में उसने उबलता हुआ पानी भरा और मेंढक को उसमें छोड़ा जानते हैं आप क्या हुआ मेंढक छलांग लगा के बाहर निकल गया उबलता हुआ पानी था क्या होता और होना क्या था इतना तीव्र था उत्ताप जल का मेंढक छोड़ा वो छलांग लगा के बाहर निकल गया इस बात का दिखाई पड़ जाना मेंढक को कि आग सा पानी है फिर कुछ करना थोड़ी पड़ा हो गई बात निकल गया बाहर दूसरी बाल्टी में उसने मेंढक को डाला उसमें कुनकुना पानी ल्यूक वाम और धीरे धीरे बाल्टी को नीचे से वो गर्म करता गया मेंढक मर गया धीरे धीरे पानी गर्म होता गया धीरे धीरे पानी गर्म होता गया मेंढक को किसी तल पर ये पता नहीं चला कि पानी इतना गर्म हो गया है कि मैं निकल जाऊं धीरे धीरे पानी गर्म हुआ मेंढक एडजस्ट होता गया मेंढक जो था वो धीरे धीरे उस